सज्वरगण धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति अपने आर्यवन विकास के अधिकारी सदस्यगण प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि पूर्वक परीक्षा पूर्वक इस बात का निर्णय करे कि इस संसार में मानव जीवन की सफलता क्या है एक स्वाभाविक इच्छा प्रवृत्ति प्रयत्न देखा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति समस्त दुखों से छूटना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति नित्य दुख रहित स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहता है इस विषय में मतभेद नहीं है चाहे कोई व्यक्ति कहीं का रहने वाला हो कम से कम जानता हो और उच्च कोटि का कितना ही विद्वान क्यों न हो इन दोनों लक्ष्यों में मतभेद वाद विवाद नहीं मिलेगा अर्थात कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं दुख को चाहता हूं और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कुछ दुख से छूटना चाहता हूं सारे दुख से छूटना नहीं चाहता ये नहीं मिलेगा संसार और कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं कुछ सुख को प्राप्त करना चाहता हूं आधे चौथाई पौन पूरे सुख को मैं प्राप्त करना नहीं चाहता ये भी विचारधारा नहीं मिलेगी फिर से सुनेंगे आप प्रत्येक व्यक्ति प्राणी समस्त दुखों से छूटना चाहता है इसी के लिए वो सब कुछ करता है प्रत्येक व्यक्ति नित्य आनंद दुख रहित आनंद बंधन रहित आनंद स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहता है इस विषय में भी मतभेद नहीं मिलेगा इसके अंतर्गत ऐसा भी नहीं है कोई ये कहे कि मैं कुछ दुख से छूटना चाहता हूं पूरे दुख से नहीं छूटना चाहता ये मत भी अर्थात ऐसा किसी का भी मत नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि मैं आधे पौने दुख से छूट जाऊं कुछ दुख मेरे साथ बना रहे ऐसा कोई नहीं चाहता और कोई व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि मैं कुछ सुख को प्राप्त करूं और पूरा सुख ना हो उसमें पूर्णता न हो और सुख की आवश्यकता बनी रहे ऐसी स्थिति को भी कोई प्राप्त करना नहीं चाहता इससे ये सिद्ध है कि प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसके करने से समस्त दुख हट जाएं और नित्य आनंद मिल जाए ये है विद्वत्ता ये है तत्ववेताओं का अंतिम सिद्धांत और जब इसको जो व्यक्ति नहीं जानता नहीं पहचानता अतिरिक्त कुछ भी करे वो वो वास्तव में विद्वान नहीं है वो तत्ववेता नहीं है वो बुद्धिमान विशेष बुद्धिमान नहीं है अब जो वर्तमान की स्थिति है भूगोल की आपकी सबकी मानव मात्र की वो इस बात को नहीं खोजता वो इस बात को जानना नहीं चाहता उसको ये पढ़ाया भी नहीं जाता पाठ्यक्रम जितना भी भूगोल में है संप्रदायों को अलग कर दो पाठ्यक्रम में संप्रदाय अपने अपने धर्म ग्रंथ जिनको बोलते हैं उनको वो पढ़ाते हैं शेष जो पाठ्यक्रम है राजकीय विभागों में राजाओं ने जो बनाया है उसमें कहीं भी ये विद्या नहीं है ये विद्या पठन पाठन नहीं है जिससे व्यक्ति सारे दुखों से छूट जाए और वो नित्यानंद को प्राप्त हो जाए भूगोल में कहीं नहीं मिले स्थिति भूगोल की है और आश्चर्य की बात यह है कि लाखों छोटे मोटे वैज्ञानिक हैं और हजारों कितने धर्म के आचार्य उपदेशक हैं ये संतुष्ट हैं अपने मन में कि हम ठीक कर रहे हैं हम बहुत बुद्धिमान हैं और उनके मन में ये भी है कि ये वेदों की परंपरा लाखों ऋषियों की जो हुई है लोग कहते हैं मुक्ति होती है कोई मोक्ष होता है ईश्वर प्राप्ति होती है ये कल्पना मात्र ही इनमें कुछ लेने देने की बात ही नहीं इनका दिमाग ये बन चुका अब आगे बढ़ेंगे आप इसकी चपेट में अपने आर्य जगत भी आ गया है इसी मान्यता की व्यक्तियों को छोड़ो गिने गिने व्यक्ति मिलेंगे जो इस मान्यता से प्रभावित ना हो और इसका अनुकरण न करते जो वो लोग मानते हैं कि धन ही सर्व ऊपरी है वो जो वो लोग मानते हैं विषय भोग इंद्रियों के ही सर्व ऊपरी है वो लोग जो मानते हैं अधिकार ही सब कुछ है ईश्वर धर्म योगाभ्यास भाई बहन ये सब नीचे हैं इसके चपेट मारिए जगत भी आ गया आश्चर्य की बात यह चपेट में आया हुआ अपने आप को वो चपेट में नहीं मान रहा है आश्चर्य की बात तो ये अत्यंत आश्चर्य ये सिद्धांत ये मान्यताएं वो पुस्तकों में है या उपदेश में है या लेख में है जीवन का चपेट में आ गया नीचे से लेके ऊपर तक व्यक्ति केवल धन केवल अधिकार केवल सम्मान केवल भोग और वो भी एक सीमा में नहीं है सीमा से बाहर गया सीमा का अर्थ ये है उचित परिश्रम किया आपने धन उपार्जित किया न्याय से उसको खान पान की दृष्टि से अच्छी चीज खाते हैं गलत नहीं खाते उसी में से समाज को सहायता देते हैं उसी का उपभोग करते हैं किसी का अन्याय से लेना नहीं चाहते दूसरे का धन छीनना नहीं चाहते दूसरे की पदों को स्वयं छीनना नहीं चाहते ये एक सीमा में ये सीमा भी समाप्त कर दी है ये सीमा नहीं रही उसकी यदि ऐसी सीमा बन जाती तो भी इतना मानव जीवन न बिगड़ता धन उपार्जन की सीमा खान पान की सीमा अधिकारों की सीमा उस सीमा को यदि बना लेते तो फिर ये इतने झगड़े नहीं होते तो उसमें ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो वेदों में लिखा छह दर्शनों में दस उपनिषदों में सत्यार प्रकाश ऋग्वेदादी भाषा भूमिका में जो लिखा वो पुस्तकों में रह गया पुस्तकों में विद्यमान है वो लेखों में भी आया है उपदेश में भी आ जाता है परंतु उस को धरती पर उतारना और उसी के लिए तनबंधन धन लगाना ये ऐसा हो गया जैसे कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हो ही नहीं सकता असंभव जैसा कहते ये बन गया पर एक बात सभी याद रखेंगे चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे आप हो ऐसा विचारना ऐसा मानना मनुष्य का धर्म नहीं है कि यह धरती पर नहीं उतारा जा सकता इसको हम नहीं कर सकते इसको हम बदल नहीं सकते ये मनुष्य का धर्म नहीं हम ये मानते हैं जो ऋषियों ने लिखा ऋषियों ने जो अपने अंतिम निर्णय दिए वो ये कहते हैं देखो ईश्वर का गुणकर्म स्वभाव वेदों में जो उपदेश दर्शनों में जो ऋषि ने लिखा ये करो ये मत करो लौकिक उन्नति धर्म से करो और मोक्ष को प्राप्त करो वो जो है हमारे लिए आवश्यक है चाहे कोई मानता है नहीं मानता चाहे सारा संसार विरोधी होता है अनुकूल होता है हम उस पर चलेंगे ये मनुष्य का धर्म मूल बात क्या है ईश्वर को प्रसन्न करना मोटी भाषा में ईश्वर के अनुकूल चलना ईश्वर की बात को ही मानना वेद आगे वेद को ले लो दूसरे तीसरे पर ऋषियों के ग्रंथ ले लो तीनों को ले लो इकट्ठे करो इन्हीं की बात को सर्वोपरि मान के चलना इन्हीं के अनुकूल रहना और अंतिम निर्णय ईश्वर कहलाता है उसी के निर्णय पर चलना उसे विरुद्ध न चलना यही हमारे सारे दुखों की निवृत्ति का कारण है और नित्यान की प्राप्ति का कारण है और कोई है ही ये निर्णय आपको सबको करना पड़ेगा यदि आप ऐसा निर्णय नहीं कर सकते यदि आपका इतना विवेचन नहीं है आप परीक्षा पूर्वक ऐसा निर्धारित नहीं करते तो आप नहीं टक सकते आप नहीं ठहर सकते एक दिन भी चाहे वो ब्रह्मचारी हो आप हो माताएं हो सबके लिए है एक व्यक्ति के लिए नहीं नहीं ठहर सकते आप न्याय नाम की चीज को धरती पर नहीं उतार सकते जब तक ये बात परीक्षा पूर्वक निर्णित न हो जाए ईश्वर का जो गुणक्रम स्वभाव ईश्वर के आदेश फिर वेदों में उपदेश फिर ऋषिकृत ग्रंथ उनमें जो करने के लिए कहा वही दुखों की निवृत्ति का कारण है वही नित्यानंद की प्राप्ति का कारण है ऐसा निर्धारित कर आगे बढ़ जाइए निर्धारण करना एक बौद्धिक कार्य बौद्धिक स्तर है और फिर वैसा ही आचरण करना और उसमें जो कुछ कठिनाइयां आए उनका सहन करना विपरीत नहीं चलना कुछ भी हो ये स्थिति उस उद्देश्य को पूरा करेगी जो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है सारे दुखों से छूट जाऊं मैं नित्य आनंद को प्राप्त हो जाऊं ऐसा ही होगा इसलिए सभी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए ऐसा मानना चाहिए ऐसी बुद्धि बनानी चाहिए इसी में हम सफल है अन्यथा सफलता नहीं मिलेगी परिणाम ये निकलेगा और बहुत कुछ निकल चुका है अपनी वैदिक मान्यताएं वैदिक सिद्धांत वैदिक परंपराएं चाहे वर्ण आश्रम की हो चाहे आश्रमों की हो चाहे वर्ण व्यवस्था की हो चाहे राजनीति की हो चाहे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हो चाहे पठन पाठन हो सब चौपट कर दिया गया है धराशाही बना दिया गया लगभग आंशिक रूप में कहीं आंशिक रूप में कहीं झलक है यदि उसको सुरक्षित नहीं रखा गया वो भी लुप्त हो जाएगी स्थिति ऐसी आ चुकी है आज वर्तमान का उसमें भयंकर रोग बाहर के तो आक्रमण है ही है भारत के ऊपर विदेशी राजाओं के और फिर मत मतांतरों के आक्रमण है वैदिक परंपरा के ऊपर है जो भारत के अंदर विद्यमान है उन मत मतांतरों के भी आक्रमण बराबर चल रहे हैं और ऐसे आक्रमण है वो भी धर्म नाम की चीज धर्म की विधि विधान वेदों के अनुरूप व्यवस्था वो छोड़ नहीं सकते आप देखेंगे एक उदाहरण के रूप में मैं अब ब्रह्मा कुमारियों के केंद्र में मैं गया पहले भी गया उनका अध्ययन किया आप देखेंगे जो दोष और गुण दोनों का विवेचन करो उनमें गुण क्या है फिर उनमें दोष क्या है दोनों को जानो और कम से कम व्यक्ति को उनमें गुण है वो ले लेने चाहिए ऐसा ऋषियों का मंतव्य रहा है जहां जैनियों का प्रकरण आया और स्वामी दान सरस्वती ने बात उठाई कि आपके सिद्धांतों में ये ये ये ये, ये दोष है परंतु आप ये कहते हैं भोजन को प्रकाश में करो अंधेरे में न करो ये तुम्हारी बात ठीक अंधेरे में करेंगे तो कीड़े पतंग पता नहीं क्या खा जाएंगे प्रकाश में ही करो भोजन कोई भी बात दूसरे की हो वो ले लेनी चाहिए परंतु बिना परीक्षा और बिना बेचारे दूसरे की गलत बात नहीं लेनी हमने क्या देखा वहां लंबी चौड़ी कथा है आश्चर्यजनक है सारी व्यवस्था आवास की व्यवस्था अब अपने घर की बात मैं कहूं आर्य समाज के अंदर एक आध परिवार व्यक्ति को छोड़ के शेष अच्छे विद्वान सन्यासी के लिए अच्छे शुद्ध कपड़े नहीं मिलेंगे लगभग उसके लिए भोजन भी ठीक नहीं मिलेगा लगभग उसके लिए कोई भी आवास की व्यवस्था है वो वस्त्र की व्यवस्था और फिर भोजन की व्यवस्था वो मिलनी कहीं कहीं ठीक होती है नहीं तो प्राय नहीं होती वहां यद्यपि हम गए हम उनकी मान्यताओं से विरुद्ध हैं वो भी जानते हैं हम उनके सिद्धांतों का खंडन करते हैं वो ये भी जानते हैं पहले हम जा चुके हैं उनके आचार्यों से मिलकर बातचीत हो चुकी है और उनकी जो मुख्य मान्यताएं हैं उनको प्रश्न उत्तर में उठाया गया और उन्होंने भी प्रश्न उठाए हमने उचित उत्तर दे दिया वो हमारी बातों का उचित उत्तर नहीं दे सके आ, अब भी नहीं दे सके एक एक आते आते जाते हैं वो लंबी बात है और हम हाँ, वो अपनी व्याख्याएं करते जाते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं कि आप ये बतलाइए कि आपका ईश्वर परम धाम में बैठा सर्वज्ञ कैसे है मन वचन कर्म की बुराई अच्छाई को कैसे जानता है और हमारे कर्मों का फल कैसे देता है तो वो कहते हैं ये तो समझने की बात है ये तो मानने की बात है वो ऐसा है कि ऐसा जान सकता है इसमें क्या बात है एक जगह तो मैंने कहा देखो इतने कहने से किसी की मान्यता स्वीकार नहीं की जाती हमने कहा देखो ऋषियों ने लिखा न्याय दर्शनकार ने लिखा आप पांच बातें कहो एक देशी ईश्वर सबको जानता है ये प्रतिज्ञा है कैसे जानता है उसमें कारण बताओ कैसे हेतु फिर उसमें उदाहरण बताओ फिर उपनय बताओ फिर निगमन पांच बातें कहो मोटी भाषा जैसे हम मोटे उदाहरण देते इस पर्वत में आग है ये प्रतिज्ञा कहलाती है क्योंकि धुआं उठ रहा है ये हेतु कहलाता है जो कटे नहीं उसको हेतु कहते कट जाए वो हेतु नहीं रहेगा जी क्योंकि धुआं उठ रहा है फिर उदाहरण देंगे जहां जहां धुआं होता है वहां अग्नि मिलती है जैसे कि भट्ठे में ईटों के भट्ठे में जैसे कि ईटों के भट्ठे में ये उदाहरण है जैसे ईटों के भट्ठे में धुआं है ऐसे धुएं वाला ये भवन है भवन की कल्पना करो ये मकान भी है अब अंत में कहता है इसलिए धुएं के उठने से इसमें आ गया इनको पांच अवय बोलते हैं जो यहां दर्शनों की विद्या पढ़ाई जाती है उसमें एक न्याय दर्शन है और न्याय दर्शन को जानने समझने वाला व्यक्ति चाहे वैज्ञानिक हो चाहे ना हो चाहे संप्रदाय का वो टिक नहीं सकता यदि वो गलत बात कहता है वैज्ञानिक भी नहीं टिकेगा इसके सामने संप्रदाय का व्यक्ति नहीं टिकेगा वो कहता है उनका बुद्धिमान जो विद्वान माना जाता था कि ऐसे तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता ऐसे तो मैं सिद्ध नहीं कर सकता मैंने कहा फिर आपकी बात मानी नहीं जा सकती या तो पंचों से सिद्ध करो तब तो हम मान लेंगे केवल कहने से एक जगह रहता हुआ जान लेता है चाहे व्यक्ति चाहे जो कुछ कह सकता है हम कहते नहीं जान सकता वो कहता जान सकता फर्क क्या है दोनों वो कहता जान सकता हम कहते नहीं जान सकता कोई फर्क नहीं है हाँ और ना है पापी मैंने कहा पांच बातें कहो ये सब के लिए आवश्यक है वो ऐसा निषेध कर तो ये बातें तो हमने ऐसे देखी और इतने लोग वहां पर देखे कोई आर्य समाज से गया कोई कहीं से गया कोई वहां से गया कोई यहां से गया और सारे के सारे संतुष्ट और सारे के सारे ये कहते हैं हमने पाना था जो पा लिया पाना बाकी नहीं रहा तन मंदन चौंक दी अब आप देखेंगे इनमें क्या विशेषताएं थी ये तो विशेषता नहीं है कि ये सत्य और सत्य को जना सकते हो या ईश्वर तक पहुंचा सकते हो या सिद्धांतों का परिज्ञान करा सकते हो परंतु उनके अंदर जो दूसरी विशेषताएं हैं जो हमारे पास नहीं जैसे मैं उदाहरण देता हूं हमारे पास में अनुशासन नाम की चीज नहीं है एक गुरु आचार्य कहता है ये करो ये नहीं करो उनके यहाँ ये उनका नाम प्रकाशवती पूरा नाम यही है ना प्रकाशमणि माता जी है और वो साधारण माता है और पांच लाख कितने लोग उनके संपर्क में देश विदेश में और वो कहती है कि इस भवन को एक करोड़ में बना दो ये यहाँ भवन बन जाए बस ये यहाँ न बने नहीं कोई ननुज करने वाला नहीं कोई और यहाँ नीचे से लेकर ऊपर तक काटना काटना काटना प्रत्येक गुरु बना बैठा प्रत्येक राजा बना बैठा प्रत्येक अनुशासक बना बैठा किसी की बात कोई नहीं मानता विनाश का कारण ये बने ये उनकी महत्ता ये गुण है उनका यद्यपि सिद्धांत गुण नहीं बता रहा ये जो अनुशासन में रहने का गुण है ये बेमान है अपने आयुष को उखाड़ के फेंक दिया अनुशासन नाम की चीज नहीं जब मनु ने भी एक बात कही ये प्रसंग आया कि सत्य और असत्य की बात में जो दो व्यक्ति बात कहें तो किसकी बात माने मनु महाराज ने एक बात कही एक और हजारों हो वो संख्या कितनी है पूरी मनु की आप और आगे बढ़ जाइए हजारों लोग एक बात को कहते हैं कि ये बात ऐसी है एक विद्वान एक सन्यासी उस बात को कहता है ये सत्य है और वो हजारों और कितनी वो एक सन्यासी कहेगा उसकी बात मानी जाएगी हजारों की नहीं मानी जा सकती ये ऋषियों का निर्णय तो ये अनुशासन में रहने की जो बात उनकी है ये व्यक्ति के अंदर आकर्षण उत्पन्न करती है और संगठन बना डाला उसने हमारे अपने अनुशासनहीनता के कारण विघटन हो गया आप भी ये न माने कि हमारे दोष सुनाने के लिए हम बात कर रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होने वाली बात है और वो आप में हम में है वो उसको ऐसे सोचना ऐसे सोचेंगे तो आप यहाँ ये दिमाग खराब हो जाए कि स्वामी जी हमारे दोस्त दिखा रहे <laughs> हमने प्रत्येक व्यक्ति मात्र के लिए ये बात कहनी है आप यहाँ काम करते और आप अनुशासन में नहीं रहते एक बात आप यदि अधिकारों पर तनाव पैदा करते आप अपनी बात को मनाने में दूसरे की न मानने में ये सब घातक चीजें हैं इनको अपने व्यवहार में अपने परस्पर में मत छो कौन अधिकारी बनेगा कौन नहीं सब एक कोई बने योग्य व्यक्ति इसमें वाद विवाद न करो फिर आगे बढ़ो वो जो बात कहते हैं अधिकारी लोग उसको मान के चलो सम्मति सब दो अपनी अपनी सम्मति देनी चाहिए और वो सम्मति समझ में आए तो अधिकारी लोग उनको मान लेनी चाहिए सम्मति है वो और ठीक है परंतु कभी कभी दोनों की सम्मति टकराती है याद रखना दोनों की सम्मति टकराती है तो बड़े व्यक्ति की बात मान लो अपनी छोड़ दो इसका उपाय है ये उसका ढंग है दोनों की बात आपस में टकराई वो कहते ये ठीक है वो कहता है जो बड़ा व्यक्ति है ऊपर अधिकारी है उसकी बात मानो अपनी को छोड़ दो और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो झगड़ा वहां निश्चित है झगड़ा और ये झगड़े होते होते होते होते दो दो और घर परिवारों में चले गए भारत की जनता झगड़े में जाकर के टूट पड़ी और विदेश के आक्रमण इतने हैं मत वालों के आक्रमण इतने हैं ये इसके ऊपर भारत पर छा जाएंगे तीसरे राजा बनकर बैठेंगे ये स्थिति आ चुकी है अब वर्तमान क्योंकि भारत के परस्पर के झगड़े इतने अधिक हैं मतों के झगड़े फिर अधिकारों के झगड़े फिर धन के झगड़े जातिवाद के झगड़े ये इतने झगड़े आके के फैले इससे भारत का विनाश होने की स्थिति आ चुकी है अब वर्तमान तो इसलिए हमको कम से कम हम जितने यहां हैं ब्रह्मचारियों के लिए भी ये लागू है आपके लिए भी लागू है अब ये ब्रह्मचारी इनके लिए ले लो ये ब्रह्मचारी है ये पढ़ते हैं योग्यता बनाते हैं पर इनके अंदर जब तक अनुशासन नहीं होगा ये अनुशासन में नहीं रहेंगे तो ये ब्रह्मचारी सामान्य कार्य कर सकते हैं अपनी अपनी योग्यताएं होती है ये कहीं स्वतंत्र रूप से पढ़ा सकते हैं उपदेश दे सकते हैं कोई गुरुकुल भी चला सकते हैं पर जो उन्नति होगी वो अनुशासन से होगी आपने सुना होगा और इंग्लैंड आदि देशों में जाकर के लोगों ने अनुभव किया कि हमारे कार्यो में धर्म प्रचारों में मंत्र क्या है उन्होंने बताया कि इंग्लैंड से एक व्यक्ति अनुशासन करता है ये ये काम यहाँ यहाँ भारत के कोने कोने में देश में ऐसे ऐसे होंगे वहां एक बैठा व्यक्ति अनुशासन करता है सारे पादरियों पर ये उनका परीक्षण हो चुका है अपने यहाँ किसी का कोई अनुशासन नाम की चीज नहीं है एक एक व्यक्ति राजा है एक एक व्यक्ति नेता है तो ये तो जी अपने आप को समाप्त करने की स्थिति अपने आप को देश को संपत्ति को और स्वतंत्रता को यदि समाप्त करना हो तो ये स्थिति उसके अनुकूल है जो हम आजकल सोचते हैं विनाश होगा इसको कोई रोक नहीं सकता पर हम ये नहीं मानते कि हम कुछ नहीं कर सकते ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार मैं और आप हम थोड़े से हम क्या ऐसा मानने की बात ही नहीं हम ये मानते हैं कि ईश्वर की आज्ञा जो कुछ है वेदों का आदेश है ऋषियों की बात है हम उसको करेंगे और करवाएंगे निराशावादी बनकर बैठने की बात ही नहीं करेंगे ये मतलब ढंग है काम करने का अब दूसरे व्यक्ति सहयोग देते हैं दें अच्छी बात है और नहीं देते हैं तो नहीं दें कोई बात वो विरोध करते हैं राम झगड़े नहीं करेंगे उल्टी बात आएगी तो उसका समाधान करेंगे तो चलने की जो शैली है पद्धति है वो ये है प्रत्येक व्यक्ति इस बात को सोचे कि ईश्वर का मेरा सीधा संबंध है मेरा और ईश्वर का ईश्वर ने मुझे मनुष्य शरीर दिया है ईश्वर ने मेरे लिए सृष्टि बनाई है ईश्वर ने मेरे लिए वेदों का ज्ञान दिया है उसका सारी व्याख्या वेद ऋषियों के ग्रंथों में उसका और मेरा सीधा संबंध है उसके आदेश का पालन करना सबसे ऊपरी है मुख्य है और किसी का पालन हो या न हो भले विरोध हो जाए ये प्रत्येक आत्मा जीवात्मा के सोचने का है मैं ऐसा ही सोचता हूँ ऋषि ऐसा ही सोचता ऐसा ही मैं मानता हूँ ऐसा मान के चलता हूँ आदि से लेके आज तक अब तक मैं ऐसे ही चलता इसलिए ये सोचने का ढंग हमको सबको आना चाहिए ध्यान देंगे आप सभी जब ये सोचने का ढंग हमारा ठीक रहेगा तो हमारी शक्ति संगठित हो जाएगी जितने हम यहाँ हैं फिर हम दूसरों को अपने साथ जोड़ेंगे दूसरे को यही प्रेरणा देंगे अच्छा हमारी संगठितों की बात को मानने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाएंगे क्या समझ में आ रहा है आपके मैं भाई बोलता जाऊं और आप समझ में नहीं आ रहा ऊब जाए अर्जुन भाई जी का पता नहीं नींद आ रही है ऐसे ही आंख हो गई है हम्म, या ध्यान कहीं और है नाम एक का नहीं इसलिए जानबूझ के लिया ये मैंने इसलिए छेड़ा है कि ऐसे व्यक्ति सो जाता है और वो अपने और चिंता में पड़ जाता वो सुनता ही नहीं उपदेश बेकार है उसके लिए क्या समझ में आया आपको आ रहा है नहीं आ रहा है हाँ जी एक एक बात को लेते जाइए समन्वय हो रहा है बातों का हमको कैसे मान के कैसे सोच के चलना चाहिए एक और यदि हम उसके विपरीत सोचते हैं तो परिणाम ये निकल लेंगे हमारा धर्म वैदिक धर्म वेद विद्या ऋषियों की विद्या भारत की संपत्ति भारत का धन और भारत की स्वाधीनता सारी समाप्त हो जाएगी जो अब भारत की शैली है वर्तमान में जिसकी प्रधानता है भारत की स्थिति है अनेक विषयों में भारत पराधीन हो चुका है किसी को पता लगे न लगे संविधान बनाने में भारत पराधीन हो चुका है कल्पना करें एक संविधान बनाना विदेशियों की जो कंपनियों से बन के चीज आएंगी भारत में बिकेंगी उनके ऊपर ये कर लगाओ कल्पना कीजिए संविधान बनाओ लोकसभा में उनके ऊपर ये कर लगेगा आप मेरी बात तो समझ रहे या नहीं समझ रहे या नहीं समझ रहे तो कई बार दोहराऊंगा मैं बिना पढ़ाने के ढंग से बात बताने में कोई लाभ नहीं है पढ़ो और पढ़ाओ दिमाग में नहीं आती धारावाही बोल दिया वाह वाह कर दिया कि इनका कुछ नहीं बोला इसलिए कोई लाभ नहीं है वो जो धाराएं हैं जैसे मैंने बतलाया विदेश से ऋण लेती है भारत की सरकार अथवा कोई भी प्रांतीय हो केंद्रीय हो कोई भी हो और वो संविधान बनाने के लिए आती है ऋण नहीं दिया गया विदेशियों का उसका जो ब्याज था वो भी नहीं दिया गया वो इतना बढ़ गया इतना आगे बढ़ गया उसको दे नहीं पा रही भारत की सरकार या प्रांतीय सरकार या दूसरी कोई भी हो व्यापारी लोगों को कह दो जब नहीं दे पा रही तो जब संविधान बनने जा रहा है लोकसभा में कि विदेश की बनी हुई चीजों पर इतना कर लगेगा और जो ऋण देने वाले हैं वो आदेश देते हैं झंडा घुमाते हैं कि तुम ये ये संविधान नहीं बना सकते विदेश की वस्तुओं पर इतना कर लगेगा नहीं बना सकते वही कानून संविधान बन ही नहीं पाएगा या नहीं बना आप करके देख परीक्षण कर लो सारा अब पराधीन कानून विधान में पराधीन हो गया तो उसके हाथ में क्या रह गया संविधान नहीं बनेगा उसके विपरीत और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था का पलड़ा अर्थव्यवस्था में भी पराधीनता की स्थिति संविधान बनाने पराधीनता की स्थिति और भाषा की दृष्टि से नितांत गुलाम हो चुका है भारत संस्कृत है न हिंदी है न गुजराती है न तेलुगु है न कन्नड़ है अंग्रेजी और दुनिया के माता पिता फूले हुए नहीं कुप्पे की तरह फूले हमारा बच्चा दो वर्ष का हमारा बच्चा इंग्लिश बोलता है हमारा बच्चा हिंदी बोलता ही नहीं हिंदी जानता है बात बहुत अच्छी बात इतना दिमाग जिसका खराब हुआ वो देश को कैसे बचाएगा आश्चर्य की बात इतनी गुलामी की भयंकर धाराएं ये हमारे पल्ले पड़ी उनको मान लिया अच्छा ऐसा देश कोई और होगा एक आध कहीं हो तो ढूंढ लेना नहीं तो ऐसे देश प्राय नहीं मिलेंगे और सुन लो आपको पता रहे इस समय ये प्रचार किया जाता है इंग्लिश भाषा विश्व की भाषा हो चुकी है आपने सुना नहीं सुना आप क्यों नहीं बोल रही सुना है नहीं सुना है आप तो सोचिए रोटी बनाना मेरा काम है ये काम सोचना मेरा ऐसा मत सोचना तो उसमें उसमें जब ये बात आती है ये विश्व की भाषा हो चुकी है हाँ महाराज जी सत्यवचन महाराज लाल चक्र बूझिया और न बूझा और पैरों पग चक्की बांध के कूद कूदा हुए ये लाल बुचक्र की कथा ऋषि ने भी और भानु दिए ना दृष्टांत <laughs> कि भाई हाथी वहां से निकल गया रात्रि में बड़े बड़े पैरों के चिन्ह हो गए धूली में और गांव वाले ने आशय किया महाराज जी लाल बुचक्र को ये क्या जानवर है ये क्या चीज है ये बताओ तो अच्छा इतनी समस्या खड़ी होगी हाँ हाँ उनका देखो भाई ये बात ये है आश्चर्य की बात को दूर करने वाला है दुनिया के अंदर लाल बुझकर बूझिया है उसको बूझो और बूझने वाला कोई है ही नहीं और पैरों में चक्की बांध के कोई मृग कूद गया यहां से वो हो सत्यवजनी महाराज ऐसा समाधान दुनिया में कहीं ये इनकी पढ़े लिखे की अध्यापकों की बुद्धि ये इनके प्रोफेसरों की डॉक्टरों की बुद्धि ये वैज्ञानिकों की बुद्धि के विश्व की भाषा बन गई हाँ सत्यवर्धन महाराज लाल बूझिया सबके दिमाग में इनको ये पता नहीं इंग्लिश भाषा खोज की एक विद्वान ने वो लगभग चार या पांच देशों की साढ़े चार देशों की भाषा है राज की और देश है लगभग हमको जो आई सुनने में दो सौ बारह जो सुनाए गए आपको समझ में नहीं आया अब विश्व की भाषा बन गई कितना बुरा उल्टा पड़ जाए अब सुन लो अब बोलचाल की भाषा बोलचाल की भाषा ये 112 देशों में से लगभग 12 देशों की मानी गई है जो परीक्षण हुए राजीव जी बड़े परीक्षण करते रहते और भी विद्वान परीक्षण करते हैं और दूसरे अनेक विद्वानों के परीक्षण हो चुके हैं वैदिक धर्म वैदिक सिद्धांत आर्य समाज के दश नियम इक्यावन मंतव्य सिद्धांत सत्या प्रकाश मिले वेद और वेदानुकूल शीघ्र ग्रंथ अर्थात ये संविधान ये पद्धति वैदिक मान्यता के अनुरूप जो व्यक्ति चलेगा निश्चित रूपेण वो उसमें सफलता मिलेगी अर्थात लौकिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति केवल वैदिक परंपरा से हो सकती है और किसी संप्रदाय के नियमों पर चलने से नहीं हो सकती अर्जुन भाई क्या समझ में आया दो राजो मेरी बात को इतना तो करना पड़ेगा आपको यो चुपचाप मैं नहीं बैठने देता उपदेश में भी मैंने जो कहा वो बताओ नहीं तो आप ध्यान क्यों दोगे वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप वैदिक मान्यताओं के अनुरूप जो व्यक्ति अपने जीवन को बनाएगा निश्चित रूपेण उसकी लौकिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा और धरती पर कोई ऐसे सिद्धांत मंतव्य नहीं है जिससे व्यक्ति लौकिक उन्नति भी हो जाए और मुक्ति की प्राप्ति और रोग भयंकर आया दूसरी चीजें लोगों को अच्छी लग रही है और वैदिक परंपरा को छोड़ रहे आप ध्यान रखना अपने बालक बालिकाओं को यही चीज सिखाना प्रतिदिन यही पाठ पढ़ाना आधा पौन घंटा इसी में लगाना वैदिक परंपरा वैदिक दिनचर्या वैदिक मान्यताएं वैदिक अध्ययन अध्यापन वैदिक आचरण वो उनको सिखाना चाहिए इसका भाव हो गया है लगभग टेलीविजन पर बालक जो है कई घंटे खोते हैं दिन में आपके सभी के बच्चे एक आध व्यक्ति नहीं दिखता नहीं होगा जो बच्चों को देखने नहीं देता टेलीविजन आप में से है कोई जो टेलीविजन नहीं देखने देता अपने बच्चों को वो तो बताओ है हाँ जी है माने नहीं मैं बताता हूं कान पकड़ करके पार करो अपने पत्थर ढो या पात्र मान दो ढाबे में या रक्षा चलाओ रोटी नहीं मिलेंगी कैसे नहीं मानेगा मनाने का मनाने का विधि विधान मैं बताऊंगा मानने का आपका जितने ये ग्रस्त लोग हैं हम इनको सिखा सकते हैं बच्चों को अच्छा कैसे बनाया जाता है बुरे कैसे बनते हैं उनके उनको अनुशासन में कैसे रखा जाए और उनको अच्छा कैसे बनाया जाए हम सब बता सकते हैं पर आप तो झट ये कह देंगे देखो स्वामी जी बात ऐसी है आप कभी गृहस्थ में तो गए नहीं और आपने कभी बच्चों का पालन पोषण नहीं किया आपको क्या पता ये कह डालेंगे बड़ी विचित्र बात है एक घटना सुनाता हूं आपकी नींद और आलस से दूर भी हो जाएगा रोचक भी बन जाए इस दृष्टि से और समझ में भी आ जाए एक परिवार में और ब्रह्मचारी हैं राज सिंह जी हैं प्रसिद्ध ब्रह्मचारी हैं अच्छे प्रचारक हैं जीवन लगाते हैं अपने ढंग से उनके माता पिता झगड़ पड़े एक दिन मैं वहीं बैठा था और कटु भाषा उत्तेजित भाषा गर्मा गर्म करने लगे दोनों पति पत्नी मैंने कहा माता जी ऐसे ऐसे शब्द नहीं बोलते अपने पतियों को ऐसे नहीं बोला करते तो वो रुक गई तो वो बोलने लग गई मैंने कहा देखो आप ऐसे अपशब्द मत बोलो ऐसे गर्मा गर्म लोग क्या कहेंगे वो रुक गए फिर माता जी बोलने लगी उनके माता जी ऐसे मत बोले ये हो फिर वो आए और वो झटकने लगे देखो स्वामी जी आपने कभी गणेश में जाके तो देखा नहीं आपको पता क्या अब ये हम यदि समझाए तो ये कहके टालेंगे कि इनको पता ही कुछ नहीं कभी बच्चे पैदा किए नहीं कभी पालन पोषण किया नहीं क्या जानेंगे बस ये हो गया बेड़ा पार अजय ऋषिराम ने सारा लिख दिया उन्होंने बच्चे पैदा किए थे क्या हाँ। बताओ सारा लिख दिया कुछ छोटा ही कुछ तीन ग्रंथों में सिद्धार्थ प्रकाश ऋग्वेद वाष्यु का संस्कार विधि सब कुछ लिख डाला सारा छोड़ा ही कुछ नहीं किसी आश्रम के लिए उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए थे वो गृहस्थ में नहीं गए थे और सारा लिख डाला आपको पता रहे गृहस्थ में जाए न जाए जो व्यक्ति वेदों को ऋषि ग्रंथों को जानता जो व्यक्ति अपने जीवन को बनाता उनको सारी बातों का पता हो मानव निर्माण कैसे होता उसको सारा पता हो बिगड़ता कैसे ये सारा यद्यपि अपने आर्यवन विकास के ब्रह्मचारी कितने बने और कितने योग्य हैं ये आप भी जाने हम ये हम नहीं कहते इनमें खराब भी होंगे कुछ बीच के होंगे कुछ अच्छे भी होंगे पर हमने इनके निर्माण करने का प्रयास किया वो पद्धति ये कितना सीख पाए और कितना ये अब आचरण में ला रहे हैं पर गतिविधि जो ऋषियों की मान्यताएं हैं वो सारी इनके अंदर भरने का प्रयास किया यद्यपि इनमें सबको मिलाओ तो सारा परिणाम एक स्तर पे मध्य औषधि जिसको बोलते हैं वो ये निकलेगा इन ब्रह्मचारियों में से बहुत अच्छे योग्य ब्रह्मचारी अपने अपने ढंग से यहाँ और भारत के कोने कोने में और वेद दर्शन उपनिषद है वैदिक धर्म है लेख आदि अध्यापन इसमें इन्होंने बहुत कुछ किया पर्याप्त हुआ यह हमारी दृष्टि से ये कह, कहना चाहिए सारा मिला के इतने दिनों में आर्य वन विकास में जो ब्रह्मचारियों को पढ़ाया गया सिखाया गया वैदिक धर्म की शिक्षा दी गई उनका उनको योगाभ्यास सिखाया गया ये नियम का पालन देश जाति के लिए उन विचार भरे गए उस सारे को मिलाओ मानव निर्माण की दृष्टि से ये मेरी बुद्धि है आपकी दूसरी हो सकती है ऐसा कहीं भूगोल में कार्य नहीं हुआ आज नहीं है मानव निर्माण की दृष्टि से वैदिक धर्म की विद्वता की दृष्टि से और देश जाति के लिए भाव भरने की दृष्टि से कहीं नहीं ये स्थिति कहीं भी नहीं मिलेगी ओट में हो मैं नहीं देख पाया हूं उसको छोड़ दी अब ये क्यों हुआ इतना जो कुछ हुआ आपने तो प्रबंध किया भवन बनाए अर्जुन भाई जी ने इतना रुपया दे दिया भाई दो वर्ष तक ये होगा फिर भारत के कोने कोने से माताओं ने माता बुद्धिमती जी बेटी जी ने लाखों रुपया खर्च करती है इनके लिए ये ऐसी ऐसी कितनी माताएं सबने सहयोग दिया और ये सहयोग दिया तो हमने इस उसी विधि को अपना के प्रयास किया जो ऋषियों की थी तो इतना कार्य हो गया यदि आप भी अपने बच्चों को इस रूप में शिक्षा देंगे और ऐसे प्रणाली चलाएंगे उन बच्चों को इन चीजों से हटाओ छोटे बच्चे होते हैं पंद्रह वर्ष तक आपके अधिकार में रहते ऋषियों का संविधान है कि पंद्रह वर्ष तक माता पिता गुरुओं के आदेश का पालन और दंड के भागी होते हैं फिर आगे विधान बनाया यदि सोलह वर्ष का जवान हो गया तो वहां मित्र के तुल्य माता पिता को बच्चे के साथ व्यवहार करना वो जीवान हो गया है झगड़ा हो जाएगा क्यों जी सुरेंद्र जी क्या नाम है उनका आपका नाम याद नहीं रहा मुझे हैं वो पीछे बैठे हैं राजेंद्र जी सुन रहे हो कुछ कुछ सुधार करोगे है जी हाँ इसमें बात क्या होती है उसका अपना मन बना और जो मन में आया वही ठीक दिखता तो उसमें मैं आपको बता रहा था कि बालकों को प्रतिदिन आधा पौन घंटा प्रशिक्षण दो वैदिक धर्म का प्रशिक्षण दो आचरण का प्रशिक्षण दो व्यवहार की शिक्षा दो देशभक्ति की ये भावना भरो और टेलीविजन वाले समय को हटा दो वहां से रोक दो प्रतिबंध लगा दो जब बड़े हो गए जवान तब उनको सम्मति यही दो नहीं माने तो नहीं कोई बात नहीं फिर आगे ये चलता जवान होने पर अब नहीं मानते तो नहीं मानते पहले अनुशासन में रखना यदि ये हम नहीं करते तो आने वाले बालक बालिकाएं न धार्मिक होंगे न देशभक्ति होगी न ईश्वर भक्ति होगी और न वो पुरुषार्थ करेंगे वो सारा का सारा चरित्र पूरा भोगवादियों का या पाश्चात्य देशों का बिल्कुल ढलेगा और ढल चुका आप देख सकते आठ दस के बालक बालिकाएं उसी आचरण में ढलते जा रहे हैं लगातार वही आचरण है वही रूपरेखा है और वही जो विदेश की जो आचरण की रीति है ना अमरीका जैसे देशों की जब कुछ कोई भी बालक जब वो चला जाता है ना पंद्रह वर्ष की अवस्था में लगभग छोटे बच्चे को छोड़ दिए उनकी आचरण की जो मान्यताएं अपनी चलती हैं राज, राजा उस पर कुछ नहीं कर सकता राजा ने उसको छूट दे रखी है लड़के लड़की किसी रूप में आचरण करें बच्चे बच्चे पैदा करें उनके लिए संविधान है अमरीका जैसे देशों में बिना विवाह के बिना विवाह के संतान उत्पत्ति होती रहती है और उस संतान उत्पत्ति का दर्द शर दर्द अमरीका की सरकार और वो रोक नहीं सकती संविधान उल्टा वो बालक बालिकाएं जितने पैदा होते हैं सरकार संभालती है बिना विवाह के होते हैं वो आचरणहीन ये पद्धति भारत में आ, आ रही है आचरणहीनता इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है कोई शिक्षा नहीं बात ही नहीं इतना ही नहीं भारत में यह भी कुशिक्षा आ रही है कि पांच वर्ष का बालक यदि वो माता पिता की बात नहीं मानता पढ़ता नहीं उठता नहीं अजय भंग करता है और उसको बच्चे को धमका दो दो थप्पड़ लगाओ ऑस्ट्रेलिया का संविधान यदि वो बालक शिकायत कर दे सरकारी विभाग में तो उसको दंड मिलेगा माता पिता को जो पांच वर्ष बच्चे को दो थप्पड़ मारेगा उसको दंड मिलेगा ये मूर्खों की शिक्षा पर याद रखना है ये तो मूर्खों की है दूसरा पक्ष और सुन लो जितना ऑस्ट्रेलिया के लोग परिश्रम करते हैं भारत में हजारों में क्या लाखों में कोई व्यक्ति मिलेगा जितना वो परिश्रम करते दूसरा गुण भी तो देखो और पचास वर्ष में भारत कहां गया और वो कहां गया हो सकता है आगे कितने वर्ष लगे उसके समान उन्नति जो उसने की है भौतिक उन्नति कितनी कितने साधन कितनी सुविधाएं कल्पना नहीं कर सकता व्यक्ति इतना पुरुषार्थी व्यक्ति अब देखो विद्यार्थी ये विद्यार्थी तो कोई एक दो घंटा काम करते होंगे और इधर उधर थोड़ा साधारण फिर सोचते होंगे देखो जी सारे दिन काम में लगाया जा रहा है सारे दिन काम में लगा आप ध्यान देना जब बालक पंद्रह वर्ष का होता है याद रखना पंद्रह वर्ष का होने के पश्चात वो बालक बालिका तीन चार पांच घंटे परिश्रम करके धन कमाएगा वो और पढ़ाई भी करेगा ये नियम है अब वो धन भी कमाएगा अपने सारे खर्चे को और वो पढ़ाई भी करता रहेगा यदि उसको काम नहीं मिलता तो व्यवस्था है कि सरकार उसको ऋण देगी पढ़ाई के लिए कोई कमी नहीं आने देगी सरकार पर जब वो नौकरी कार्य करने लगेगा तो वो धनराशि सरकार को देनी पड़ेगी वही विद्यार्थी पंद्रह वर्ष के पीछे पूरी कमाई वही करता है और पढ़ाई वही करता है इतना परिश्रम इतना पुरुषार्थ इसलिए वो आकाश में उठ गए वो लोग कितनी सुविधा है कितनी सरलता है भारत के अध्यापक भारत के डॉक्टर भारत के इंजीनियर जो हमारे थे ना वो भारत में बिल्कुल आना नहीं चाहते केवल भारत के लोग वो आना चाहते हैं जिनके बच्चे बिगड़ रहे हैं दिमाग जिनका ये है कि हमारे बालक बालिकाओं का चरित्र ठीक नहीं वो वो दुखी है थोड़े ये हमारे बच्चे बिगड़ गए धार्मिक नहीं रहे आस्तिक नहीं रहे उनको तो दर्द है शेष तो ठाक से रहते हैं इतनी सुविधाएं हैं इतनी इतनी सरलताएं हैं आराम से सुख से रहते तो इसलिए मैं दोनों पक्ष सुना रहा था ये अशुद्ध संविधान बना बना करके व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया आज भारत में भी ये बातें आ गई है कि कोई अध्यापक कोई गुरु किसी बालक की पिटाई नहीं कर सकता और पिटाई करना नियम कानून से विरुद्ध माना जाता ये मूर्खों का सिद्धांत ऋषियों के बिल्कुल विरुद्ध तो इसलिए अपने बच्चों को संभालो आप और उनमें ये संस्कार बनो